आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है बॉयफ्रेंड की तारीफ नदी का पानी कड़वा है सबका बॉयफ्रेंड भड़वा है साले बहन चोत सरे हराम के लौड़ो तुम्हारे तो लौड़ा भी हराम का है जिसको चोदोगे तो वो हराम की औलादी पैदा होगी मादत शोध होते हैं सारे उनको कुछ नहीं चाहिए होता है सिर्फ उनको चूत चाहिए होती है सिर्फ रंडी आपा करना जानते हैं अच्छी अच्छी लड़कियों को रंडियों की तरह ट्रीट करना जानते हैं साले चूत के भूखे माँ के लौड़े बहन के लौड़े लौड़े साले मरोगे ना तो मट्टी भी नहीं नसीब होगी दो गज तुम नहीं बहन साले मर भी जाएंगे तब भी लौड़ा हिलता रहेगा उनका लौड़ा लौड़ा तो शायद इनको झंडू में पहुंचने के बाद भी इनला बंद नहीं करेगा वहाँ पे भी कहेंगे आओ आओ आ जाओ मेरे पास दे दो हमको जैसे ही आते हैं बस वैसे खोल कर बैठ जाते हैं और कहते बाबू इतनी देर कहाँ लगा दी सर चोदने की जल्दी होती है ना इसलिए चोदना ही है तो आराम से चोदो लौड़ो सर तुम्हारा नाम ना चुदक्का होना चाहिए चुदक्का <laughs> चोदने की जो एक साइकोपैथ बीमारी होती ना वो है तुम लोगों में तुम लोग के लौड़ा लौड़ा नहीं रह गया वो साइको हो गया लौड़ा ही तुम लोगों का लड़की में तो इंटरेस्ट रहा ही नहीं उसकी चूत में इतना इंटरेस्ट है कि पूछो ही मत हर जगह तो खड़ा हो जाता है लौटन ना खड़ा इनका तुम लोग को लड़का नहीं तुम लोग का नाम लौड़ा रख देना चाहिए वो देखो लड़का नहीं जा रहा है वो देखो लौड़ा जा रहा है बस और कुछ होता भी तो नहीं है तुम लोगों के पास दिमाग तो होता नहीं है सिर्फ लौड़ा लौड़ा लौड़ा लोग हंसते हंसते मरते हैं और तुम चोतते चोतते मरोगे जिसकी चोदोगे वो तो मरेगी ही मरेगी बेचारी तो तुम लोग में जिंदा नहीं बचोगे लौड़े साले साले खुद की चूत होती ना तब लौड़ा जाता तब पता चलता कितना दर्द होता है जब दर्द होता है तो बाबू कुछ नहीं मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते साले मादर चोत तेरे लिए चूत फड़वा दी और तू ये पूछ रहा है हाँ, बाबू दर्द नहीं होता है बाबू मैं हूँ ना और साले करने के छह महीने बाद तुम कौन मैं कौन मेरी नई गर्लफ्रेंड आ गई है साली वो तो तू ये करती थी वो ये नहीं करती है वो ऐसी है तू ऐसी नहीं थी बहन चोर माँ के लौड़े साली अपनी माँ को ना इतना ही है साले जिस दिन चूत तो है नहीं जिस दिन गाड़ में छह इंच का डंडा पड़ेगा ना उस दिन पता चलेगा दर्द क्या होता है आठ इंच में आठ इंच मेरे वाले के तो आठ इंच है और साले दो दो इंच का डायमीटर चले खुद खाना खाते हो या लौड़े खाना खिलाते हो फिर बोलते हैं बाबू कुछ खाया कि नहीं खाया बड़ी दुबली हो रही हो क्योंकि मज़ा नहीं आती बहन चोर माँ के लौड़े साली अपनी माँ को चोर ना